ी गणेशाय नमः सर्वे तन्तु सर्वे सन्तु श्रीरामयाः सर्वे पत्राणि पश्यन्तु मा कश्चित्तु उपभा भवेत् धेयस्य विराजते हि गरलम् मस्तके गङ्गाजलमस्तते तनया जाया भवानी स्थिता नन्दिस्कन्धगणाधिनाथसहितः केदाराञ्चन संस्थितो हि सततं पुर्यात्सदा मङ्गलम् मङ्गलम् भगवान् विष्णुः मङ्गलम् गरुडगजः मङ्गलम् पदयो प्रदक्षिण विधिः स्तोत्राणि सर्वा गिरो यद्यत् कर्म करोमि तदखिलम् शम्भो तवाराधनम् ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदम् पूर्णात् पूर्णमुदश्च ते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते મેં મહારાષ્ટ્રીને પ્રશ્ન કર્યો કે ગુરુનું ધ્યાન કેવી રીતે કરવું બહુ સુંદર જવાબ આપ્યો ગુરુ જે દેખાય છે એનું ધ્યાન ન થાય ગુરુ જે દેખાય છે એ તો હાડકા માંસ જામ નો થેલો છે એ દેખાય છે ગુરુ પોતાના વિશે જે સ્વરૂપનું વર્ણન કરે છે એનું ધ્યાન થાય ગુરુ એટલે જે નિત્ય શુદ્ધ બુદ્ધ મુક્ત સ્વરૂપ છે એનું ધ્યાન થાય છે ગુરુજી પોતાની ઓળખાણ પોતાના પોતાની મેસેજ આપે છે કે હું સત્ય જ્ઞાન મંતમ બ્રહ્મ છું એ જ એમની સાચી ઓળખાણ છે છતાં પણ આપણા મનમાં હંમેશા જાણવાની ઈચ્છા થાય છે મહારાજ ક્યાંથી આવ્યા છે ક્યાં જન્મ થયો કેવી રીતે વિદ્યા પ્રાપ્ત કરી એમના ગુરુ કોણ ઇત્યાદિ વાત આપણા માટે મહત્વપૂર્ણની બની રહે છે કારણ કે એક સાધક પણ સાધના માટે આ બધી માહિતીને ઉપયોગી માને છે માટે પ્રાતસ્મરણીય ગુરુદેવ અનંત શ્રી મહારાજ શ્રી અખંડાનંદજી મહારાજનું નામ છે આધ્યાત્મિક જગતમાં કોણ એમને નથી જાણતું તેમનો ત્યાગ તપસ્યા ભક્તિભાવ વૈદુષ્ય બ્રહ્મનિષ્ઠ એવં સરળ સુબોધ સરસ પ્રવચન શૈલીની ખ્યાતિ સર્વત્ર સંપૂર્ણ ભારતમાં ફેલાયેલી છે ભારત વર્ષના પવિત્ર વારાણસી મંડળના ગંગા તટ પાસે મહરઈ ગામમાં સજુપારીણ બ્રાહ્મણ વંશમાં મહારાષ્ટ્રીનો જન્મ થયો હતો શ્રી દીકરાનો પ્રાગટ્ય થયો છે તેમના પિતા પિતામહ સનાતન ધર્મી સદાચારી તથા વેદશાસ્ત્રોના વિદ્વાન હતા વારાણસીના અધ્યયન વખતે પ્રસિદ્ધ વિદ્વાન અને સંતોનો સમાગમ થયો ગોરખપુરમાં કલ્યાણના સંપાદક મંડળમાં સાત વર્ષ સુધી નિષ્કામ સેવા આપી સંન્યાસ લઈ શ્રી કુરિયા બાબાજીના સાનિધ્યમાં વૃંદાવન રહ્યા મહારાષ્ટ્રની આ એ વિશેષતા છે કે તેઓ નિર્ગુણ બ્રહ્મના નિરૂપણ વખતે વેદાંત તેમજ સગુણ બ્રહ્મના નિરૂપણ સમયે શુદ્ધ ભક્તિભાવનો ઉપદેશ કરે છે શ્રીમદ ભાગવતની સાથે જીવનનો અત્યંત ઘનિષ્ઠ સંબંધ રહ્યો છે છલકતા આનંદ અને આહલાદથી તો મહારાજથી સાક્ષાત પ્રગટ મૂર્તિ જ છે જે કોઈ નિકટતાથી તેમના સંપર્કમાં આવી આવી ચૂક્યો છે તે નક્કી તેમની પવિત્ર તેમજ સ્વચ્છ સ્નેહ રસધારામાં અવગાન કર્યા વગર રહ્યો નથી આ રીતે આ છે મહારાજશ્રીનો ટૂંકો પરિચય આપણી પાસે સમય ઓછો છે અને આપણે ઘણો લાભ લેવાનો છે આજે સાંજે કાલે સવાર સાંજ અને પરમજે સવારના અને આપણે સત્સંગનું માધ્યમ રાખ્યું છે પ્રશ્નોત્તર આપને જે પ્રશ્નો હોય ખરેખર મનમાં જે પ્રશ્નો આધ્યાત્મિક પ્રશ્ન એ લખીને મને પહોંચતા કરશો તો અહીંયા જેમ સમય હશે દરેક પ્રશ્ન પૂછવાનો આવશે અને મહારાજશ્રી એનો સુંદર જવાબ આપને આપશે प्रथम प्रश्न है परम पूज्य महाराज जी के चरणों में नमस्कार सत्संग किसे कहते हैं नारायण सत्संग का अर्थ है कि जो सद वस्तु है सत्य है उसका संग किया जाए माने वो परमेश्वर के रूप में है तो उसका संग किया जाए आत्मरूप में है तो उसमें स्थित हुआ जाए अनजाना है तो उसको जाना जाए तो सत्य जो है उसके संग को ही सत्संग कहते हैं गीता में और शब्दों का कोष उसकी डिक्शनरी हो या न हो ये सत्शब्द का कोष गीता में दिया हुआ है ओम तत्सदिति निर्देशो ब्राह्मण सर्वेद स्मृता में आप देखें सद्भावे साधुभावे सदित्येत प्रयोज्यत जो सच्ची सत्ता है अखंडित अबाधित आत्मरूप उसको सत कहते हैं सदभाव माने जिसको कभी उठलाया न जा सके जिसको कभी मिथ्या न किया जा सके जिसको कभी छोड़ा न जा सके जो बाधित न हो सके उसको कहते हैं सत ऐसी कौन सी वस्तु है कुछ लोगों ने संसार को ही ना कर दिया कि नहीं है यहां तक कि कुछ लोगों ने ईश्वर को ही ना कर दिया बोले नहीं है लेकिन ऐसा भाई का लाल दुनिया में कभी हुई न हुआ न है न होगा जो ऐसा बोल सके कि मैं नहीं हूं या ऐसा सोच सके कि मैं नहीं हूं क्योंकि जो बोलेगा वो तो है ही सब है जो सोचेगा कि मैं नहीं हूं वो झूठ मूठ सोच रहा है कि मैं नहीं हूं दरअसल तो है ही तो सत क्या है अपना आत्मा अब वो कितना बड़ा है कैसा है क्या है ये बात लोग कम जानते हैं जानते तो हैं परंतु बहुत कम जानते हैं कोई अपने को हड्डी मान शाम का पुतला मानते हैं तो कोई अपनी जाति मानते हैं तो कोई संप्रदाय मानते हैं तो कोई प्रांत मानते हैं कोई ब्राह्मण क्षत्रिय मानते हैं कोई सन्यासी गृहस्थ मानते हैं कोई विद्वान बुद्धिमान मानते हैं तपस्वी समाधिस्थ मानते हैं परंतु आत्मा का जो असली स्वरूप है जो बेहोशी में भी रहता है समाधि में भी रहता है सुसुप्त में भी रहता है स्वप्न में भी है जागृत में है उसको वस्तुतः सच कहते हैं लोग कल्पना करते हैं कहाँ स्वर्ग है कहाँ वैकुंठ है कहाँ गोलोक है कहाँ साकेत है ईश्वर निराकार है साकार है अंतर्यामी है पर इस साढ़े तीन हाथ के शरीर में रहने वाला जो अपना आपा है आत्मा है उसके बारे में नहीं जानते ये अकले अधेरा कितने बादशाह हुए कितने लाट साहब हुए किस देश का क्या इतिहास है ये सब तो लोगों को मालूम रहता है परंतु मैं क्या हूँ ये मालूम नहीं रहता है और इसके मालूम हुए बिना अपने कर्तव्य का भी ठीक ठीक ज्ञान नहीं होता है जब आदमी जानेगा कि मैं सिपाही हूँ तो चौराहे पर खड़ा होकर वो यातायात का नियंत्रण करेगा यदि वो जानेगा कि मैं डॉक्टर हूँ तो चिकित्सा करेगा तो अपने मैं को जाने बिना जो हम अपने कर्तव्य मान बैठते हैं संबंध मान बैठते हैं अभिमान कर बैठते हैं वे सब के सब अज्ञान की कक्षा में आ जाते हैं दूसरी बात है सत्संग का अर्थ है अपने हृदय की पवित्रता साधु भाव आप विचार करके देखें जो संग्रह करते हैं इकट्ठा करते हैं वो सत्य है कि नहीं जो भोग करते हैं वो आपके हिस्से का अंश सच है कि नहीं है जो मनोराज्य करते हैं आगे ऐसा हो जाए ऐसा हो जाए वो सत्य है कि नहीं जो आदत आपके जीवन में पड़ गई है वो सत्य है कि नहीं है जो काम आप करते हैं वो उचित है कि उचित अनुचित का विचार किए बिना ही काम करते हैं आप गीता पढ़ते हैं भीष्म द्रोण कर्ण कर सामने से युद्ध करने के लिए तैयार है धर्मराज युधिष्ठिर और अर्जुन के रथ पर बैठे हुए श्री कृष्ण ही युद्ध की प्रेरणा दे रहे हैं परंतु वो व्यक्ति था अर्जुन जिसने कहा कि हम बिना सोचे विचारे विचार किए बिना हम कोई भी काम नहीं कर सकते हम जो काम करें उसमें हमारे शरीर का स्वास्थ्य ठीक रहे चरित्र पवित्र रहे इंद्रियों में संयम रहे मन में सद्भाव रहे बुद्धि में विचार रहे अहंकार नहीं आवे इस बात पर दृष्टि रख के हम काम करते हैं क्या तो जब इस इन चारों बातों पर दृष्टि रख कर काम करते हैं तो आपके जीवन में सत्संग आ गया तो एक तो आत्मा सत है उसका संग सत्संग है दूसरे अंतकरण में जो हमारी सद्भावना रहती है सदविचार रहता है उसका रहना सत्संग है और यज्ञ करना दान करना तपस्या करना इसका नाम सत है कोई भी काम जो हम ईश्वर के लिए लोक हित के लिए माता पिता की सेवा के लिए अपने हृदय की पवित्रता के लिए तत्व ज्ञान के लिए करते हैं वो काम सत हो जाता है और उसका संग ही सत्संग है ये संग भगवान का संग एक ईश्वर के साथ हमारी आसक्ति है आपको मालूम है कि संस्कृत भाषा में संग माने साथ नहीं होता हिंदी में तो संग माने उनके संग वे जा रहे हैं उनके संग भी रह रहे हैं संग माने साथ होता है पर संस्कृत भाषा में संजनम संगम आसक्ति का नाम संग होता है संसार में जितनी भी अच्छाई अब तक कहीं किसी में आई है वो सत्संग से आई है भगवान के प्रति आसक्ति होने से आई है या संतों के प्रति आसक्ति होने से आई है जो भी हाँ, भला हुआ है दुनिया में वो सत्संग से ही भला हुआ है गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं मति कीरति गति भूति भलाई जो जही जतन जहाँ जब पाई सो जानव सत्संग प्रभाव लोकम वेद न आनंद पाओ लोक में या वेद में कहीं भी दूसरा उपाय नहीं है आपको बुद्धि चाहिए तो अपने से बड़े बुद्धिमान का सत्संग कीजिए आपको कीर्ति चाहिए तो जो बड़े बड़े कीर्तिमान हैं उनके जीवन का अध्ययन कीजिए आपको सदगति चाहिए तो संतों का संग कीजिए वैभव चाहिए तो जिन्होंने दरिद्र से दरिद्र अवस्था में पैदा होने पर भी अपने परिश्रम से पौरुष से बुद्धि से अपने को धनवान बनाया है उनका संग कीजिए यदि आप किसी भी प्रकार का हित चाहते हैं तो सत्संग कीजिए सत्संग से बड़ी दुनिया में और कोई वस्तु नहीं है भागवत में कहते हैं संत संगत से देशजम संत जो है वो आसक्ति की औषधि है औरों से आसक्ति करोगे तो फंसोगे बंधोगे रोना पड़ेगा प्रियम त्वाम रोत्य किसी के साथ बद जाओगे लटके लटके फिरोगे ये सत्संग ही है जो बंधन से छुड़ाता है किसी का विरह होगा कोई विश्वासघात करेगा किसी से तुम प्रेम करोगे वो तुमसे नहीं करेगा रुलावेगा रोना पड़ेगा इसलिए जीवन में जो सत है उसके संग करना चाहिए और ये जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है तो आप शरीर से सत का संग्रह कीजिए सत का भोजन कीजिए सत्कर्म कीजिए सत से प्रेम कीजिए सबके प्रति सद्भाव रखिए सद विचार कीजिए सत स्थिति में रहिए और अपने सत स्वरूप त्रिकालावादित आत्मा को ब्रह्म रूप में जानिए ये सब सत्संग शब्द का अर्थ होता है अब सत्संग किसे कहते हैं ये आप अपनी रुचि से अपनी योग्यता से अपनी प्रवृत्ति से तौर लीजिए और आपके लिए जो हितकारी हो उसी का संग कीजिए इसी का नाम सत्संग है रागत द्वेष की वृद्धि कैसे होती है और इनकी आत्यंतिक निवृत्ति किस प्रकार हो सकती है पहले थोड़ी थोड़ी निवृत्ति होने दो बाद में आत्यंतिक निवृत्ति करता है आत्यंतिक माने हमेशा के लिए और पूरी तरह से राग द्वेष की निवृत्ति होगी तो उसको आत्यंतिक निवृत्ति कहते हैं आत्यंतिक माने जिस निवृत्ति के बाद फिर राग द्वेष नाम है निरुत्तर निवृत्ति निरतिशय निवृत्ति पहले देखो कि आपके जीवन में किस चीज की कमी मालूम पड़ती है तो उसकी प्राप्ति जिससे होगी उससे राग होगा और जो आपकी इच्छा की पूर्ति में बाधा डालेगा उससे द्वेष होगा जिस जिससे सुख मिला है मिलता है और मिलने की आशा है उससे उससे राग होता है हमारा दिल हमारा मन रंग जाता है रंजनाद रागा जैसे हम कपड़े को किसी रंग में रंग लेते हैं और इसी प्रकार हम अपने हृदय को किसी राग से किसी रंग से रंग लेते हैं थोड़ा आप ध्यान देंगे तो मालूम तो पड़ेगा कि हम सुंदर बनाने के लिए अपने को रंगते हैं और स्नो पाउडर शरीर में क्यों लगाते हैं जितना करने के लिए होट पर लिपस्टिक क्यों बनाते हैं लगाते हैं लेप औष्टिक ये औष्टिक लेप जो है वो क्यों है जब अपने होठों में रंग की कमी मालूम पड़ती है आकर्षण की कमी मालूम पड़ती है, है? हाँ? ऐसा लगता है कि इसको देखकर दूसरे लोग आकृष्ट नहीं होंगे तो उनको चमकाने के लिए ऊपर से रंग लगा दिया जाता है ऐसे अपने हृदय में जब किसी दूसरे से सुख मिलता हुआ मालूम पड़ता है तब उसके साथ हम जुड़ जाते हैं और उसके रंग में रंग जाते हैं सुखानुषयी राजा सुखम अनुशेत जहाँ जहाँ सुख मिलता हुआ मालूम पड़ेगा वहाँ राग हो जाएगा देखो अपने को तो हम जानते हैं कि कितने दोष हैं हमारे अंदर लेकिन जब कोई तारीफ करने लगेगा कि आप में ये गुण है ये गुण है ये गुण है आपको तो इतने अच्छे हैं तो तारीफ सुन सुन के हमारे कान रंग जाएंगे सुनने का मन होगा हमारा मन रंग जाएगा और वो आदमी बहुत अच्छा लगने लगेगा और हम चाहेंगे कि ये हमको मिलता रहे मिले और इसी से हम राग करेंगे प्रेम करेंगे इसी प्रकार जिससे दुख मिलता है उसके प्रति द्वेष होता है दुखानुषयी द्वेषा जिस जिससे हमको दुख मिलता है उससे द्वेष हो जाता है द्वेष माने ज्वलनात्मक चित्त वृत्ति विशेषा हमारे हृदय में एक जलन होती है एक आग जलती है उसका नाम द्वेष होता है जब द्वेष होता है हमारे दिल में आग लगती है तो हम किसी के बारे में बुरा बोलते हैं वो द्वेष की चिंगारी है किसी के लिए बुरा कर रहे हैं वो द्वेष की आग फैलने लगती है द्वेष को संस्कृत भाषा में आश्रयास भी बोलते हैं आश्रयास माने आश्रय अशनातिक जैसे आग लगती है तो जिस लकड़ी में आग लगती है उसको जलाती है इसी प्रकार देश जिस हृदय में आता है उस हृदय को ही पहले जलाता है उसकी जो लपटे हैं चिंगारियां हैं वो जा करके दूसरे को जलाते हैं तकलीफ देते हैं तो पहली बात ये समझना चाहिए कि अपने अंदर कोई कमी है उसको हम जिससे पूरा करना चाहते हैं और उससे राग हो जाता है और उसकी पूर्ति में जो बाधा डालता है उससे द्वेष हो जाता है तो ये बहुत सावधान रहने की वस्तु है राग द्वेष युक्त विषयान इंद्रिय चरण आप अपने व्यवहार में देख के कि आप किसी के राग में रंग तो नहीं रहे हैं आप किसी के प्रति द्वेष करके उससे जल तो नहीं रहे हैं तो आप में ऐसी कौन सी कमी है जिसको पूरी करने के लिए आप दूसरे को चाहते हैं और किसी से द्वेष करते हैं द्वेष से फिर क्रोध आता है कम सुखम क्रोध क्रोधा जो हमारे सुख का धरना है हमारे दिल में उसको ये बंद कर देता है भीतर से जो सुख निकलता है उसको ये रोकने वाली चीज है फिर ये क्रोध जो है वो बाद में हिंसा के रूप में परिणत हो जाता है पहले हुआ द्वेश और द्वेश से आया क्रोध और क्रोध से आ गई हिंसा और हिंसा पर विद्रोह का रूप धारण कर लेती है ये द्वेश की वंशावली है बात राग हमें अपने में जिसकी कमी लगती है यदि कोई उसकी बात वही बात कह कह के हमारी तारीफ करने लगता है प्रशंसा करने लगता है या हमारी इच्छा जिससे पूरी होती है उससे हो जाता है राग और राग जब होता है तब पक्षपात होता है जिससे राग होता है उसका पक्षपात हो जाता है फिर वो चोरी भी करता हो बेईमानी भी करता हो तो हम उसका समर्थन करने लगते हैं भाई इस वजह से इसने किया है और फिर उसको सुख पहुंचाने के लिए हम बेईमानी भी करने लगते हैं हिंसा भी करने लगते हैं झूठ भी बोलने लगते हैं तो राग और द्वेष ये दोनों हमको बहुत नीचे गिराने वाली चीजें अब आप ध्यान दें यदि आपको अपने आत्मा का ज्ञान हो ये तो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त साक्षात परम ब्रह्म परमात्मा ही है तो दूसरा है ही नहीं द्वेष किससे होगा और आप में कोई कमी नहीं है तो तारीफ सुन के खुश होने की कोई बात ही नहीं रहेगी ये जो लोग दुर्गा पाठ करते होंगे कभी या सुनते होंगे उनको मालूम होगा सृष्टि के आरंभ में दो असुर पैदा हुए वो कहा से पैदा हुए विष्णु कर्ण मधुर भूत वो कान के मैल से पैदा हुए जिसकी हम बुराई सुनते हैं कान से उससे धीरे धीरे द्वेष हो जाता है और जिसकी तारीफ सुनते हैं कान से उससे धीरे धीरे राग हो जाता है तो राग और द्वेष ये दोनों कान के मय हैं उनका नाम है दुर्गा पाठ में मधु कैचप राग का नाम है मधु और द्वेष का नाम है कैचप और ये राग द्वेष इतने प्रबल होते हैं ही विष्णु से भी लड़ जाता है हमारे जिनकी दृष्टि बड़ी व्यापक है विवेश की इति विष्णु है जो सारे ब्रह्मांड को अपने अंदर लेकर बैठे हैं सारे विश्व ब्रह्मांड को अपने स्वरूप रूप से अनुभव करते हैं वे विष्णु भी यदि किसी की निंदा और किसी की स्तुति सुनने लगे तो मधु कैसब उनके पास आ जाएंगे और उनसे युद्ध करने लगेंगे तो बड़ा प्रबल युद्ध हुआ पांच हजार वर्ष तक मधु कैसव दोनों के साथ विष्णु लड़ते रहे परंतु वो दोनों मरे नहीं और युद्ध जीवन क्या हो गया एक संघर्ष जीवन क्या हो गया एक वैमनस्य से पूर्ण जीवन क्या हो गया एक युद्ध बस लड़ते जाए लड़ते जाए यहाँ राग आया इसको हटाओ यहाँ द्वेष आया वहाँ हटाओ ये बड़ी जल्दी जल्दी आ जाता है महाराज उधर उत्तर प्रदेश में एक मिर्जापुर नाम का शहर है वहाँ पहले ऐसे था कि कोई मूछ अपनी ऐसा हुआ सामने से आ जाए तो अच्छा हमको देख कर ऐसा करते हो आओ दो दो हाथ हो जाए लग जाते थे हो किसी ने कहा खेत में क्या बोओगे का गन्ना का नहीं भाई गन्ना मत बो इसमें हमारी भैंस कभी चली जाएगी तो बोले भैंस कैसे आवेगी आवेगी तो हम तुम्हारा सिर फोड़ देंगे तो देखो ये हमारी भैंस जाए झूठे दोनों में सिर्फ प्रबल हो गए <laughs> तो ये राज जो है हाँ, जुआ खेलते समय महाराज दो दो दो भाइयों को हमने सिर छोड़ देते देखा है दोनों सगे भाई बड़ा प्रेम जुआ खेलने बैठ गए हम जीते कि तुम जीते और दोनों में लड़ाई हो गई शराब पी लिया पति पत्नी में ही लड़ाई हो गई तो ये राग द्वेष आने में कोई देर नहीं लगती है बिना कारण के भी आते हैं और कभी कारण से आते हैं तो इनका इनकी व्यवस्था जीवन में कर लेना चाहिए पहली बात यह है वो ये है कि इन इन चीजों से हम परहेज रखेंगे और इन चीजों का अपने जीवन में सेवन करेंगे खाने व्यवस्था उसको कहते हैं हम ये नहीं कहते कोई चीज बुरी है या अच्छी है परंतु जीवन में एक व्यवस्था रहनी चाहिए कि हम ये खाएंगे ये नहीं खाएंगे ये करेंगे ये नहीं करेंगे ये लेंगे ये नहीं लेंगे ये बोलेंगे ये नहीं बोलेंगे अपने जीवन में एक मर्यादा एक व्यवस्था रखोगे तो राजद्वेश जो है उनका वर्गीकरण हो जाएगा जीवन में अब मन में भी एक व्यवस्था रखो ये सोचेंगे इस ढंग से सोचेंगे और इस ढंग से नहीं सोचेंगे राग द्वेष की संपूर्ण निवृत्ति के लिए आप राग को एक ऐसी जगह जोड़ दीजिए जो आपको आंख से देखने को नहीं मिलता है वो कौन है वो भगवान है वो ईश्वर है वो परमात्मा है उससे आप राग कीजिए प्रेम कीजिए तो उससे फायदा क्या होगा लाभ क्या है तो लाभ यह है कि आप संसार में किसी से राग नहीं करेंगे उससे राग हो जाएगा आप द्वेष भी करें तो जैसे शिशुपाल का द्वेष था तो कंस का द्वेष है और भगवान से हाँ, द्वेष भी अपना जरूरी है तो संसार में फिर किसी से द्वेष नहीं होगा ईश्वर के साथ जो भी मनोवृत्ति आपकी जुड़ेगी उससे आप मुक्त हो जाएंगे संसार में अब यदि आप देखें ये राग द्वेष चलते कहाँ है रहते कहाँ है तो ये मन में ही रहते हैं जब आप अपने को एक पार्टी के साथ जोड़ लेंगे तो दूसरी पार्टी से आपका द्वेष हो जाएगा देखो आजकल राजनीति में स्पष्ट ही देखने को मिलता है ना कि हमारी पार्टी का आदमी जब चुनाव के लिए खड़ा होता है तो हम कहते हैं कि दूध का है चाहे कितना भी बेईमान हो और दूसरे की पार्टी का कितना भी अच्छा आदमी खड़ा हो हम कहेंगे नहीं नहीं ये अच्छा नहीं है इसको वोट मत देना तो ये जो पार्टी बंदी है प्रांत के कारण है जाति के कारण है संप्रदाय के कारण है भाषा के कारण है ये जो हम अलगाव को अपने मन में रखते हैं ये अलगाव ही अलग की हुई चीजों को दो हिस्सों में बांट देता है और एक से राग हो जाता है और एक से द्वेष हो जाता है तो इसमें सावधान रहना चाहिए एकमात्र ईश्वर ही सृष्टि में है सत्ता है ज्ञान है आनंद है ऐश्वर्य है माधुर्य है हाँ। प्रेम व्यवहार सब करें पत्नी से पत्नी की तरह करें पति से पति की तरह पुत्र से पुत्र की तरह माता पिता से माता पिता की तरह व्यवहार सबसे हो परंतु राग द्वेष किसी का न हो अपने चित्त में भगवान ने जीवन की सर्वोत्तम शैली यही बताई राग द्वेश विषयान इंद्रिय चरण आत्मवश्य विधे आत्मा प्रसाद अधिगछते प्रसाद सर्व का नाम हानि रस्योपजाए थे प्रसन्न चेतसो हियासो बुद्धि पर्यवतिष्ठते एक तो अपनी आंख में किसी को देखने का राग न हो कान में किसी को सुनने का राज न हो किसी से द्वेष न हो हाथ पांव और अगर द्वेष के बिना सब काम व्यवस्था पूर्वक करें और अपने बस में रहें ये नहीं कि हम और जैसे मोटर बड़ी तेज मोटर जब चलाते हैं तो ब्रेक लगाते लगाते भी वो कुछ आगे बढ़ जाती है जब बड़े जोर से हम दौड़ते हैं तो अपने को रोकना चाहते हैं पर पांव को संभाल नहीं पाते हैं तो ये जो वेग है अपने जीवन में वो काबू से बाहर कभी नहीं होना चाहिए न काम का वेग न क्रोध का वेग न लोभ का वेग काम का वेग जब बढ़ जाता है तो जीवन में व्यविचार आता है लोभ का वेग बढ़ जाता है तब चोरी आती है क्रोध का वेग बढ़ जाता है तब हिंसा आती है इसलिए आत्मवश्य ही हाँ। बोलने में इतना सावधान है महाराज कि झूठ न बोले सावधान असावधानी में नहीं बोलना चाहिए जो हितकारी हो सो बोलना चाहिए जो प्रिय हो सो बोलना चाहिए थोड़े में बोलना चाहिए मौके की बात बोलना चाहिए आवश्यक हो तो बोलना चाहिए केवल बोलने की आदत है मुखमस्ती की वक्तव्य हमारे मुंह में जीव है इसलिए बोलते जाओ ये